हम खूब जानते हैं जो कुछ वो कहेंगे जब उन सब में से बेहतरीन राय वाला कहेगा कि तुम सिर्फ एक दिन ही ठहरे हो